थोड़ा हमें बा कह गई कि एक टांग तोड़ी दूसरी टांग तोड़ दी मेरी अरे अबे बा गुड़ती गुड़ती आवे अबे बा गुड़ती गुड़ती आवे ना कह गई के मान लो मैं देखियो के मार दुनिया देखे के गुड़ती गुड़ती कैसे आ गई हाँ है गई हाँ आगे बदरा गए टांग तो तोड़े सोरी एंड बेचेरी की छुट्टे गए आवे के बाद एक थप्पड़ तोड़ी तोड़ियो तो ही बात बात भी डरा के थोड़ी भी दूसरी જન્મ બહુ જવાબ દો હે કે દેખો શાહ કે એ રાજા રા હાથ રાણે હી બે ડાકણી ની ડાકણ આ હી એ તો રાજા રો ખજાનો હો હા ધન દોલત દો ધન દોલત છ માન લો આ ડાકણ નીકળી ગયો કોઈ બે રાણે નહીં નીકળ્યો હે રાણે તો મતલબ માન લો કે ના મારા આવી ગયો તો આ ડાકણ આપણે રાજા સાહેબ ખજાનો નીકળ્યો નીકળ્યો કે ઠીક ભાઈ वो बोलियो के बोलो બોલો હવે लो हतु ओहो के भाई मान लो રાणे तो गांव वाले डेढ़ खुदायों उनी डेढ़ में नाकी मान तो टाइम खत्म है तो खत्म हो गई तेरा वो राजा साहब क्यों है कौन वो राजा लड़को अरे वो बियाणो लड़को हां के वे राणिया मरी को नहीं वे जिंदी है ओहो देखो को बियान डेढ़ काडो बारा काडो के राजा साहब જઈને બોલ્યો કે ભાઈ એને હતોને આ ક્યાં કાઢી રહી ઓહો કે આવરે આ ક્યાં કાઢી રહી તો છો छो બેન બહાર કાઢવા હા તો આ કે હેજડી जड़ी બેન तैयार करा के पाजी हम्म, तो બે मरी कोने बे मरी कोने क्यों वो मान लो वो सदन नाग दियो बयान महीने से हाँ। पानी है रोटी है बीजी है सब हाँ, सदन कर दियो बयान पूरो गए मरे तो की करे सिर्फ एक आई जाएंगे निकाल निकाली है आवे वे कि चलो बयान बारह बार आवे वे जाए बारे avevedzai बारे barekad. बे आ के हिजु जमाए ओ बा शिशी आ शिशी इतना कह के आ के मायने टिप को ना क्योंकि हे जेड़ी जेड़ दियो हो के के आगे कर आगे कड़ा के देड़े फिर तो फिरते वो हाथ भयाड़ो आयो आयो के हुक्म मेरी दवे होए ओहो तो मारे छे बहन आ के गोया बारे के जु गोया थाने बीतने हां अब तो घर आलो पाचा तो आशा बे आल मरो मरो घरे पाचा भी रोया है वो हम्म। आपरे पास मान लो पनी जे जाए हां एंड आपरी लुगे ले अरे एंड गांव आए एन हाँ। गांव आयो तो और राज पाट धन दौलत वो हमारी ओन करियो सब काम कर करिया बढ़िया बढ़िया हाँ। बढ़िया तो मान लो सा एक एक मान लो के नई बात है सा दूसरी बात तो एक शाड़को हम्म। शाड़को जरा वो के शाड़को एक कांकड़ में रहे तो कांकड़ में रहे तो जरा मान लो मान लो कई कह रहे कह आप मान लो शाड़को जरा काम कर जुटे करे तो के हाँ तो वो अब शाड़को आप रहे कौन के वो समुद्र में दाखिल मगरमच्छ पानी नहीं पी ओहो मेरे मगरमच्छ रहे मेरी छाड़ खड़ के डोट पड़ गई पड़ गई डोट पड़ गई जरा मान लो कि माथ छाड़ तो को देख बोलियो हम्म। कभी तो इलाज किकर करा हम्म। अपन हुको पानी पीने नहीं ओ हुको अपन अटे समुद्र में अपन तीर मत रेवने नहीं कोई बात नहीं ओहो अब की करी ने अरे रे उन्हें हम्म। अबे वो देख बोले जरा क्यों एक समूह एडो एक दिन हाँ क्या मगरमच्छ क्या बोलो सा क्या बात धर्मरा भाई नहीं बिड़ना जावा अरे क्या भाई हम्म। बिना क्यों नहीं हाँ आप बिना क्यों नहीं हूँ धर्मरा भाई बिना मैं मने मैं क्यों नहीं बिनोगे हाँ क्यों ठीक अरे अबे वे उठे कहे आप राखी डोरो बांध लियो धर्मरा भाई बिणगा है ओहो मोज माया माया हाँ अरे यूँ बेड़ा रहता तरे रहता कहीं करियो है हम्म। क्या दो चार दिन आधा पड़िया ने कांकड़ में अरे कांकड़ में गयो हम्म। एन कांकड़ में गयो जना तो काई करियो है के भाई यूं करो ओ फिर तो फिर तो एक सेठ निंग आई हां हाँ। अबे वो सेठ निंग आई गो अरे तो एक मतीरेली खुपरी लाए लाए हां अबे लाइन वो काट खुपरियों गिर काट अरे एंड वो छे तुम भरियो है है ओहो अब वो शेख भरियो जना कहीं करियो है मतलब भौरी माँ की माल है भौरी माँ की माल वो है ना भौरी माँ हाँ, हाँ मेरी माँ की माल वो है अरे अब वो शेख तो भर मेरे हाँ। किल ले जावे मेरे मगर मंत्र ओहो हम्म। भाई रे क्यों धर्म भाई बेटा गुड्डू हाँ। गुड्डू बेटा के अब वो ले जाए एंड खाई करियो है ओहो के भाई ले जाए क्यों ले रे भाई हम्म। कह रहे भाई कह लायो है ओहो के भाई मैं सेहत लो हम्म। के क्यों सेहत देख तू मेरे देश में कई कई चीजें हैं तू खान चाक पच के मन ओहो पच के जे के वाकई में मारो धर्म रो भाई भिणियो है भिणियो हाँ के के लालन का भाई अरे के मारे देश में कई कई चीजें है तू बात हाँ। छोड़ दे के हम्म। वो मत देख रहे मां मांस एड़ी एड़ी देख चीज़ें हां अब वो वो से लान दियो तो वो चाक क्यों के भाई हम हम्म। क्या आपने भोजरे ले जाओ ले जाओ क्या आपने भोजरे ले जाओ हम हम्म। क्या हुक्म ले जाओ अरे खाली फेर नहीं मैं तेरी चीज़ें हम्म। अब वो ले जाए मगरमंत तो आप लोग ही नहीं दियो दियो हाँ आप लुगई दियो है अरे जनाबा लुगई खायो भी नहीं खायो शेत ने खाए क्यों रे के सुनो मेरी बात हाँ हम्म, हम्म। के वो एड़ी चीज़ा खावे अरे तो एड़ी चीज़ा खावे जना वो मान लो के मेरू काल जो तो घट कितने मीटर है ओ हो हो हो क्यों है हम्म। के है कि मेरू काल जो तो घट कितने मीटर है अरे क्यों ठीक आबे वायु मान लो के के जना यूं કે જણા કે એવું કરો બીને લેનો બીને લેનો મેં આપ સાથે અરે જો બીને મેં સ્વચ્છાવે बात ओहो अब सोचा गए मेरे के मान लो बिन धोखे में पटक बिन लाइन मेरे काल जो काल में खाने चाहिए अरे अरे अरे अबे वे लाए क्यों क्या मारे जरूर भाई मैं सदे में लाओगे बिन ओहो हाँ अबे वो लाए घी पाचो ಮಾರ್ವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ जी के ओहो हाँ हाँ मैं तो एक पाउंड में गयो हाँ डूब जाऊं यो अरे घणी घणो जोए तो मैं देख फलांग मारो पति मारो फलांग मार जो कोनी समझर हाथ है गया दाडा ओहो जना क्यों यूं कर मार मात बैठ हम जो मैं थन ले जाऊं गोदी गोदी ओहो अब वो अब मात बैठानी के मगर में हालियो हालियो हालियो के यूं कासो रियो पाउंड ओहो हज़ार पांच सौ पांच डर योजना भी मगर मंद लगाई के बा बात खट्टी खट्टी कोई नहीं खट्टी कोई नहीं जरा क्यों के मगर मंद के शालवे कालवा चीज थू नान खाई दी मैंने हाँ हाँ तो वो थू थारी बोझे क्यों के एडी एडी चीजा खावे है हाँ देवर जी खावे है देवर जी खावे ना एडी मां तो कट मेरे काल वगैरह तो कितने मिटो है अरे तो मेरे काल थारो काल तो काल खाओ खाई गया हाँ अरे के शाल मन में सोचियो हाँ कर दे भाई हम्म मारो काल तो है नहीं अरे मैं हाथ नहीं रखूं के जणा हम्म पातो गिंदे वाला भी कैंटर मातर रात छुट ओहो हो हो उन्हाळ्याला मान लो फुला एवढा फूल जाड़ी जाड़ी जाड़ी एवढा मान लो बहुत पसंद आवे चोली થઈ જાય ને ફૂલો થઈ જાય हाँ હા. તો બહુ ઉઠે હે ભાઈ બી કેન્ટર માથે તું હાલ अरे મારો કાળો ને ભોજોય આગો हम्म, પાછો હાલ લાવા મેં કાઢે ગીર્યો મગરમચ્છ પાછો અરે હવે વો મગરમચ્છ પાછો ગીર્યો એમ કે ભાઈ હવે સમુદ્રું દસ પાઉન્ડ આપો કૂદરા ઓહો કે ઠોકી ફિલામ સમુદ્રું દેખો બારે બારે અરે હવે વો ફલાંગ મારી જરા કઈ કર્યો હે કૂદ નાગો નાગો હા અરે कीर्तनकाल गुण पावे हाइले हम्म। हवड़ू हम्म। मगर मन मोड़ पड़े अरे सही हाँ। अबे मोड़ो पड़ी को जना काय करियो के दियो हम्म। पातो ओहो कारे काय करियो अरे करियो की गोनियो ओहो हम लायो मैं हां मारे कहे के मेरी बात खट्टी कोई नहीं ओहो बात खट्टी कोनी जरा मैं भी निके जो के भाई तू एड़ी एड़ी चीजा खावे जो को थारी बोझे की एड़ो बीरो कालो करे कितई मीठो है मीठो जो को बीरो बिन लो जो बीरो खाओ काल जो काड़ में मार ओ कि ठीक जरा मने वो सोतायो के देख हम्म। भाई थारो काल लागो ने पाजो के गिंदे ने भी कैंटा माते रात छुट पड़ियो है ओहो मालूम हाँ। उनाले मौसम फूलों छायो उनाले मौसम कैंटो मालूम है गेरा गेरा फूल आयोड़ा तुमने बुद्ध बात भाता मिली ठगने हाँ मान शाल के थी बुद्धि हाँ शाल को तो हतरे को बुद्ध उजे उजे के बिना हाँ ना यो यो शाल को यो बिना हतरे को बुद्ध उजे के क्यों ठीक भाई आलो लावा ना अरे तो पता क्या गया को दस पाउंड आ के वो तो कूद कियो खाइले मारो वो अरे कूद गयो क्यों मगर मैं कह देना मैं तो देख माँ से हाथी करी मारे में मैं तो इरे बजे फासू कहते ना के करे हाथ आवे हमें तो कई उपाय करा थे ओहो यो ठीक तो उपाय री मैं बता तो अरे के की कर यूं करो हाँ ओ तो फिरे कांकड़ में अरे पूरे समुद्र में पानी कादो राबड़ो कर दो एकदम ओहो समुद्र में कादो कर दे उधर मान लो आप रे बाके में राखो पानी आहो सिर्फ अरे का तो तू तूने तिरियोड़ो तीरे हाँ। मत हां हां समुद्री चल मेरे फिरदा ने पानी नहीं लादे ना वो खबोच में दी की दे के उठ तो बो पानी पीवी ओहो तो पानी पिए जो तो काय करनो के बिरो दब के हम्म, हम्म। मुंड पकड़ मुंड पकड़ ले आऊं लिया अरे मुंड पकड़े बस मैं छोड़ दियो मत हां हां हाँ, आधे दिन छोड़ दो गब के ओहो जो तो ठीक हम्म। अबे वो શાળકો દૂધી તાળી ભોત પડે એના આવનાળેની લાય એ આવનાળેના દિન એને વો ફીરતો ગીરતો આવ્યો આવ્યો આવ્યો જણા ફીરે સમુદ્રી ચારું મેં પીર ઓહો તો બીને પાણી નહીં લાદો પાણી નહીં લાદો જણા મેં બહુ ફીરતા ફીરતા ફીરતા ફીરતા બીરે બાકે મેં બહુ પાણી પાણી ઓહો ಕಿಣ ಮಗರಮಂತ್ರ ಮಗರಮಂತ್ರ ಮುಂಡೆ ಮನಾಯ್ಬಿಡು ಇಂಠಾನಿಗೆ ಆಡ್ನಿ ಮಗರಮಂತ್ರ ಮುಂಡು ಓಹೋ ಬೋ ಫಿತ ಫಿತ ಊಟ ಪಾನಿ पियो पी अब वो पानी पियो है पीता पीता के अब वो ना है ओहो क्या दिन दब के मुंडो पकड़े ओल्लो हाँ मुंडो पकड़े क्या निकल काल लारा नहीं ओहो काल पड़े लारा कहीं भी वो लीन काट दिया ओहो हो हाँ मगर मन देखियो કે માથું અમેરો अब वो शाड़कन छोड़ते ही हड्डी बार हड्डी बार शाड़को आगे मुंडो काढ़ो के ले आ तत्र लीन काढ़ो बढ़िया आगो जान के ए मारा लीन बढ़िया खाई ले ओ क्यों थारी मां जड़ थारी मगर मत शाड़का थारी हम्म। एड़ी करी मारे कुबत हम्म। कि हाँ भाई तन काल तो भाई हाँ हाँ काल जो खाई ले काल जो खाई ले मारो अरे ठीक शाड़को तो क्यों प्रो हाँ। मगर मत आप घर भी रही एगो अबे मगरमच्छ वीर करे हो अरे तो वो घरे जान भी लुगाई बूझो के भाई कई हो हम्म। के भाई बीरू मुंडो पकड़ियो मैं मुंडो पकड़ते वो क्यों निकल काल लरा नहीं ओहो तो वीर काल मैदान ला निकल वो दादा तो लीड काट दिया अरे अबे वो कमाल हो बिन बूझो भी लुगाई अरे के कह के यो के बीरू मुंडो पकड़ियो मैं ओहो तो वीर वो क्यों के निकल काल लरा नहीं वो आता तर लेट बार का मैं तो मार बिन छोड़ दिया था मैं क्यों भाई काल तो सारे का जो बिन पकड़ ना हाँ। पकाई तरह ओ दागो जानी हां शाल को नाटको अरे एंड अब अबे काय करियो है हम्म। के मान लो क्या मैं मैं बतो जान उपाय करो ओहो क्या बोलो हम्म। के इन्हें यू करो अरे पानी दिन तो आवे हाँ, हाँ। मैं आलू साथ पे ओहो आ હા ખેંચ हाँ કોઈ જાણ મરી સમાન હતો ओहो આ તીરું દસ પાવડા વીસ પાવડા દાન પૂછો ओलो મેં તો કઈ દડો દે अरे અને હારે મેરે માથે બેઠ ઢૂંઢ ઢૂંઢા આય ओहो તો ઠીક हम्म, के भाई तो मर गया हाँ मन के कि वो वो जवाब वो जी के हाँ। अलबत्त धर्मरो भाई है के अरे हाँ अ, अबे वो कह करियो के बा मगरमच्छ जाए वो होइगो अनबारा मगरमच्छ लुगाई जाए धड़े मत ले ओहो शाल भाई आया अरे फिरता गिरता ताड़े होट बड़े तेरा मरता ओ हो शाल वो तो होइगो हा खेचन हां लुगाई जो धड़े मत बेगी वे अरे वो आपने काय करियो पानी आने पी हम्म। ठा क्यों अरे एन, आपने एक धड़े मत जाए पहाड़ खोजे हम उन बे ओहो अबे बोधेराम में बैठे थे ना बैठ विचार करियो अरे बोधे ने कियो हाँ के बोधे या हम्म हम्म के कियो लाल जी काय करो थारा भाई तो मर गया मैं कोई घर ही रिवी कोई ओ की दाल सारी क्यों ठीक के जना मैं अरे के भाई मर गया के हाँ भाई मर गया सा हम्म। के भाई मर गया जरा एक टांगड़ो हल्ले बतावे कि भाई मरे जरा एक टांगड़ो हल्ला करे के वो जोर वाला ये टांगड़ो हाँ, हाँ। कीटाणु की थारा वाह मरे जने कीटाणु का लय रे माच कभी क्यों उठाने के लिए बंद मैं भाई कीटाणु बंद कर दे मरे से ना कोई कीटाणु आ जाओ कोई देखो क्यों शाल भाई देखा के हाँ बहुत जाले देखो खुद हाँ। दीजिए पकड़ा तो शाल भाई तो भाई करियो ना आएगा हाँ, अरे क्यों थारा वाह मरे जने कोई कीटाणु आ लेगा हम्म। शाल भाई हम्म। अबे वो उठी क्यों काय करा मैं के मांस हाथी करी अरे ये जरा मैं यू करो हम्म। के अटे तो अटतो हादाव बनी इरी एक शाड़केरी घुरी है भी घुरी हो तो अरे तो भी घुरी में जाए थे मैं जो लुकर हाँ लुकर हम्म। तो भी घुरी में जाए बह जो हाँ। तो घुरी में जान बह जाओ वो आए जाना घुरी में पड़ी लप के भी नहीं पकड़े ले जाओ ले जाओ क्यों ठीक अबे वो घुरी में बता जाए बह को ओह शाड़ को आवरे फिटा गीता आए ए शालकर मालो एडो बागो होती वो भरदा हां मगर मैं सांता हाथी हाथी मासे फटे मावे हां के बिल मावे अरे के वो हाथो दलडन कदे चौडू हम्म हम्म क्यों शालकर गुरी ने हां हाथी कर दी बात एक शैतान मोटी गुरी हां शाल पे है फिर के तो शाल पे ठा पड़ गई क्या हां आज आ गो गए अपन काका जी माइन बैठो है के ओ के गुरी रे माता इन बैठ हम्म क्यों रे बड़े रे गुरी आदी बोले आज बोले क्यों कोनी है ओहो કે ફેર ફેરવા હુણ્યો કોઈ બો ફેર માલો મૂન જેન બે હા બહુ જાણે સાંભળ્યો હવે હા એક અવાજ કરી દૂધી કરી ત્રીજી બો બોલ્યો તો બો કર્યો કે બીરા રે હાદીમ બેઠો રે મે આગે દાદુ દૂધી ખો દઉં કે ઓહો મે થારી સબળી નહીં આવું ના આવી અરે બાલુ ભાઈ કઈ બોસ મગરમંત કઈ ગયા પાછો ગયો પાછો ગયો કઈ ગયો के वो तो के, के बल्ली हाथी नट बैठो रे ओ मैं तो आगे जा दूधी खोज हूँ हाँ मारा था मारा घने था हाँ। अरे तो मार तो कोई आ बुरी आ चाहिए कोई काल अरे देखो मान लो के बस है कि पूरी हाँ पूरी बंद करो अरे ये शुरू नहीं मैं काय करियो के राजा लड़को अच्छा ये राजा लड़के लड़केरा मतलब चौकीदार लड़केरा का संग हो वाह दोस्त था अरे तो वे का करियो के शिकार जाता अरे शिकार जाता उन टाइम में कही के सिरदार लड़को तो पाड़ो बहता अरे और हाथ में घोचो लकड़ी वाह वाह हाँ चौकीदार है लड़के रे काई करियो के बैठे ने घोड़ो हाँ। हाथ में बंदूक नहीं हजी और त्यार मान लो वो तो राजपूत बीज हो गए हाँ यो ज़्यादा ज़्यादा कांकड़ में गया है अच्छा के हम ये वाले दिख गए मतलब लाई को हाँ वो देवार से एवड चार तो वो क्यों ओर है के भाई पानी पीता जाओ रे मार्ग में पानी है सुनो हाँ पानी पीता जाओ हाँ माल तो तेज लागे हो हाँ तो वो गया नेड़ा हाँ। क्यों भाई तन केड़ा के ना हो रे हाँ। के भाई तो घोड़ा माता तो चौकीदार लड़को मैं पालू जो अपना राजा लड़को वाह वाह तो वो विचार कीजिए कि थारी मादरणों के और राजा रो लड़को है अरे हाथ में ठोड़ पाड़ो बेबे एनो चौकीदार को लड़को है जो को तो देखो भाई भाई घोड़े माते हाथ में बंदूक वो तो हजियोड़ो हां सात बात है हाथ हाँ। लेड़ो तो वो रही कि भी राजा लड़के ने क्यों रे बहन चो थार जमारो खत्म है खत्म है मर जा के डंडी नाल अरे तो उन टाइम में आपने राय बोलने राजा लड़के ने ये शायद अरे क्यों मनो यूं कहन के हां अलबे राजवीर भी हो गए हम्म। अच्छा। तो अब आप रबो कई करियो के जाओ रो घरे हम्म। एम घोड़ा ना पाए लंबा चौड़ा पड़िया बोरा खजाना पड़िया है हाँ। तो के तो भी पाएगा मैं जान वो अरे लुगो मन अच्छा, मान लो जाए हाँ। पाएगा मैं पड़गो साठ हाँ ढेर साल पड़गो हाँ तो अब भी मान राजा रानी के बहन जो अपन लड़को सुबह रे भेड़ो हाल आयो ने हाँ देर सुबह भेगो ने भी हाथ बैठ के करियो के यो मान लो करियो के हाँ, हाँ अरे तो यू करता करता यू दिन बदे उनके आधी टाइम आता था ना जाए अरे तो अटे अटे बूझियो हाँ तो क्यों कहे भाई भी एक चौकीदार लड़के रन बिना है संग दोस्ती हाँ भी तो। मान लो दोस्ती तो वे दोनों साथ ही फिरता अरे अरे तो भी चौकीदार लड़के ने बूझो अरे तो जान बूझो अरे भाई मार राजा मार कौन कमरो नहीं रहता रात अरे के बाद थाना कौन तो उठे आ गयो हाँ मैं तो हाँ मार साथ दोस्ती छोड़ दी बोल हाँ तो क्यों थारी माँ अच्छी करी गई हाँ। ये अब यूँ करता करता पूरे गांव में यूँ ताली फिटे के राजा रे कवन हमालो के हां हाँ, मान डूंडी फिटे सा के राजा कवन हित गयो गुम हाँ, गयो हाँ। शायद कोई बेरा बावड़ी पड़ गयो हाँ। तो कटी अरे उड़ दिन पड़ गयो ताता भी तड़ गयो तो हमालो के तो काय करियो मैं राजा रे गांव में कांकड़ कांकड़ आदमी है अरे राजा रे कौन लादा हां हां अब यूँ करता करता समझो वो मुंडे पन्नक में है यार अरे हच करी हां तो बड़ा बड़ा ठिकाना आ जाते मेल लिया था सब मेल लिया क्या भाई तो- कोई कमर आयो भाई मारा हजार अरे क्या टन नहीं आया अरे अब ये करता करता कहीं गिरी भंगड़े वो ना आते अच्छा पूछ बारी काटना ये सब हाँ? हम्म। पाएगा आएगा घोड़ा माल और सब हम्म। रजड़े में पू काटे अरे अब वहाँ कहीं पू काटते काटते घोड़ा पाएगा पड़ी अरे जाओ तो आगे कहीं ठाणे माने राजा रखूंगा अरे राजा रो रुतो तो बाद बन देंग बोले ओ हो वाह जी कौन सा बटे ओ हो हुकम फिरा हाँ, हाँ। केश बल चुप रह के हाँ मने बता दो रात को मार दूं लगे हाँ जेब वो बते हाँ। जेब काट लो आंगली बते आंगली काट ला कोई बचन तो बता देता हर तरीके को मतलब थन मार दूं मार दूं बते दे मत जने के वाह मार पाऊं हर दिन के बोले चौदह दिन होता रहो अरे मारे का ही मारे टावरा दो रोड जोई जे वाह वाह रोटी ले जा मार घर जा वाह अब आप रवा को संस्कार आह एन बाकी रानी अरे क्या रानी रानी रोटी क्या रंटी रान मारो तो कौन भी मैंने आदेश नहीं है अरे थन्ने रोटी भावे रान ने हाँ तीन नकटी रोटी भावे अरे क्या बाप जी मात बंगड़ी की अब अच्छी करी आज अपन टप दिया भूखा आह है ना करनो कोई अब ये करता करता कहीं करी हो क्या अरे तो कहीं करी बात छोड़ दे बाप बंगड़ी के बाप जी कौन सामने तुम्हें बता अरे क्यों धना જોઈ જે ગઈ હા થો બતાવે ને બતા હટકે એક બાળ ફૂટતી દાદો કો વાત કર ને લાકર બધી ને હા મને વેજ દિન હોય હોતા ને અરે કે વાવ જી નું તો મેં બતો નહીં મને માર કાઢે હા આંગળી બતો આંગળી કા નાખે જીભ બતો જીભ કાઢ નાખે હાથ બતો તો હાથ કાઢ નાખે મારે કેવું બતો અરે તો હવે એવું કરતા કરતા કયો વાવ એવું કરો કે રાવડે હું ફાટોડી લો રજઈ તળો રજઈ લો પેલે અચ્છા બા વડો મારે માથે હે એક લો મતલબ થોડ તો कैबिन हाँ। इंदीजर पड़ी कि कौन सा राजा साहब लाद गए लड़को लाद हाँ, राजा साहब को लाद गो हाँ। अब ये करता करता करता बादशाह आयो भाई को क्या भाई बात हां राजा आयो ठाकरे आयो वाराणी आई अरे सब बात हुई बच्चे बाकी अरे करी अरे कम साहब रियो भाई थे कई बात तो ऋषि जी हो कई बात नहीं है मन्ने को तो सरी अरे कि ठा तो पड़े आहा क्या नहीं मैं तो करे कोई आज अरुण कोई का कहल अरे रियो पर हाँ? क्या नहीं बस महाराज की नहीं रियो वाह वाह तो क्यों रे लड़का तेने सोए गुना माँ पे हां ओए तेरी बात के हां तुम्हारे एक है एक ही लड़को है लाड को हम्म। ये तार खाने का ही बात है धन दौलत तू थर का ही कम पड़े हां घोड़ा बीजा सा दौलत धान दौलत सब घर भरियो हम्म। थाट है का तो क्यों के बाबा सा क्या हम्म। कही भाई के मारे एक बैठे ने लो घोड़ो वाह वाह क्यों ठीक और એક લો મને બંદૂક અચ્છા કયો કઈ ગેલો હોજ કર્યો રે હા આપણા ખજાનામાં મેં ઘણે ઘટેલા પડ્યા કઈ ઘાટો હે રે ટાણ લે છો અરે કયો ઠીક વાત અરે હેન ઠીક ઘોડો અટે તાર દા ને આવે તો પરમેશ્વરનો મેળો આવે બી મેળે મે થાર બડિયા ઘોડો દા પડે તેડ લઈ હે બડિયા લાવા હાગરો ઘોડો જરા હા જટા દારો 2000 વજે 10000 ભાંગા અહીંયા अरे तो अभी हम दिन बता रात ब दिन आयो परमेश्वर मेलो है क्यों बाबा साहब क्या कहे कि परमेश्वर मेलो आई गयो घोड़ो ले ना अरे क्यों हलो भाई हम्म। तो अब कई करिए मेले में जाओ रहा राजा साहब एक ने आपने कुर्सी डाल दी है का है एन अभी भी लड़के ने कियो हाँ के लड़का के कहे बाबा साहब के छोको घोड़ो दे काम नहीं ठोक्या रिपेण देवाल में अरे बढ़िया थारे दाव है नी घोड़ो अरे वो टाल ले मेरे काम नहीं ठोक्या रिपेण देवाल में देवाल में वर्षा बाबरका की होके वो मेले में फिरे फिरे मेले में फिरे तो पहले तो घोड़ों में दान नहीं आई अरे अरे फिरता फिरता मेलो बीत त्यो रे हेयो का भाई लड़का अरे के बाबा साहब घोड़ा तो घने आवे पर मारे दान नहीं आयो के थारी मार एक क्यों कोई बात नहीं भाई हां दान नहीं आयो तो वर्षा क्यों क्यों बने अब गाऊं ने के हम्म। अब गावे खुश खुश मेड़ो हां आगे जाएगा आगे जाएगा वर्षा बाप गियो हाँ। पाचा गया बारह महीना छह महीना बीत्या ना आयो वो पुरुष जीरो मेलो अरे वर्ष क्यों बाबूशाह के मेलो आगो अरे क्या लो भाई हाँ यार हमन अब गया राजा साहब कुर्सी डाल में गया क्यों रहे लड़का घोड़ो टाल काम ने दे रिकण में अरे वाह अभी मैं तो वो बढ़िया मेले में फिरे तो घोड़ो हम घोड़ा एड़ा आवे तो के मत चिल्ले तो कई गिरी अरे धड़के प्रश्न नहीं आयो हां हां क्यों बाबा घोड़ो मारे पसंद नहीं है तो राजा शाह मन में क्यों रहे या तो लड़को है वो पागल है या मैं है अरे माँ की तिले घोड़ा वे इनके बाबा घोड़ो मारे एड़ी बात है बाबा क्यों आओ कहीं अब ने यान पाते मैंने तो दो हाँ अब ने हाँ आप घर आया वाह घरे रावड़े पग देते ये कहीं तेरी खटी गए अरे गदेड़ी लेवड़ी खाकड़ी हाँ और वो खटरी खिला मुपड़ियान बेच हाँ क्यों ले लो मुपड़ियान ले लो खिला अब ये करता तो क्या भी लड़के निधर की क्यों क्या बाबा शाह घोड़ी ले आऊंगा ना तो आई अरे राजा साहब मन में ले विचार करे थारी मांग रहा हूँ थारी अपने रावड़े राव घुंडो लगा आई दियो दे अब टिलो इनो करा कहीं ना देवा तो यो ठंबे नहीं अरे जे आप नड़ जावा तो अबारो मतलब कुआ बावड़ी बढ़ जावे एक एक लड़को है हम्म। अब कर्ण को भी तो क्यों भाई कोई बात नहीं कंसा भर जेल दिन दिन दिलो हम्म। तो क्यों रे भाई घोड़ाड़ा कहता ही वो हम्म। के ना कितना भाई ले के हम्म। के बाद बाज ना चालीस रुपये अरे के ले ऐसी हाँ। दे दे को बात कर हाँ तार वजन उतार दे हाँ, हाँ, हाँ। बस डियो अब वो कहीं गिरियो आप रे मैंने ले जाओ रे मोर और मो दे वो वो इन हाथ मोरा में ले जाओ रे मैंने बांध दीवी अबे बांध बारह महीना छह बीतिया बीत्या हम्म। तो बा कई करियो गदेड़े ठान दियो ठान दियो ठान दियो तो ना कई करियो बा दे लाई बिचेरो अलग बिचेरो अलग बिचेरो लाई हां हां बिचेरो लाई जना तो मी गदेड़े ने तो उन टाइम में बार काट दी है वाह वाह एन भी बिचेरे ने कई करियो वो आपरे दूध दूध पावे है हम्म एन बढ़िया बिने बढ़िया करियो यो मालो पठान बिने हां हाँ। अब ये बारह महीना छह महीना बीता बीता वो तो है लांटो हाँ। क्योंकि वो संसार मुंडो दे के जलमते ने बिना हाथ मारा में गाल हाँ। अब वो कांकड़ो मुंडो देखे के कोनी हाँ, तो अब वो घोड़ो हिंच करे जना इकाई करे के धरती दूर जाए धरती दूर जाए तो यो राव राजा रानी हुने मायने की अरे थारी मां जरूर तो, ओ कोई घोड़ो है वास्तव में कमर के पार्क है हां के हीरा पार्क वो है क्या पड़े है हां तो अबे वो कई करियो के बार महीना छह महीना आया अरे तो कई करियो महीना मोर मो भाई लड़ो बोल हाँ लगा मगा हम गाल में तैयार करियो है हाँ। वो आगे आगे लड़को पे लारा बिनो घोड़ो पे घोड़ो तो वो तड़ा मार ले जाओ पानी पावे आहा पाँच लावे हाँ। लान पाँच लान बांध हम्म। तो अबे काय करियो एक दिन विचार किदो रानी राजा की और थारी जाओ जे आपण लड़को ही घोड़े मत बेगो वाह वाह तो उन दिन आपण लड़को घरे ने हां बिल्कुल क्योंकि मानो कूद नंदो था हां सिंह करे जो तो हां और एक छिन करे जगह में धरती तो जाएगी आई तो हाँ। अब ये करता करता समाजो में एक निकाय गिरी हो बढ़िया पिलान कस वाह वो आपता पे आपरे लड़को हां बढ़िया पिलान कस सुरोन दियो हाँ। तालाब पानी पाऊं हां पानी पान नाडी रे गाय मतलब गोचर पड़ती लंबी अच्छा लंबी चौड़ी वांगो रे सर हां लंबी चौड़ी गोचर पड़ती सा पड़ते उन टाइम में काय करियो तो किया आपने ಹಾ आया आगे हाँ राजधान के पर है आगे हाँ माते कहीं जेड़ी कोनी कर ली है मात जेड़ तो कसना हाँ अरे तो अब वो कहीं की जो के माते तो बैठ हाँ के बात ठोकी काम भी ठोकी काम नहीं ठोकी तो वो घोड़ो तो वैसे आकार सेट को बहुत रबूत है तुम हाँ हाँ क्यों चाहे तो नहीं रही वो तो आगे आगे भी रहे अरे बस वो तो आकार सेट को आ जाएगा ठोकी काम नहीं देगा हाँ तो अब ये जावता जावता जावता कहीं की जो समाज में एक अरे बिना हूर चट को आगे हूर लड़के रे और तो ना वो लड़को के दी दे केड़ो नहीं राजा राजा रो कंवर वाल में हां हां वो कई ढंग है हां तो बिना काई करियो के मी घूमना और रमोन लागो आहा हाँ। कणे तो भले ठोगरो उठन घोड़े डका दे अरे जन कणे भले ठोगरो अन घोड़े डका हां हां हाँ। अबे रमात रमात के थारी माजो हां हो रमाए हां अबे वो रमात रमात तो काई करियो के बे गांव में ये काई करियो शहर शहर अरे बीण नौटंकी मैल मैंने कही महाराणी राजा रे लड़के दी अरे देवर बोझ नन बोझ अच्छा नन बोझ नवसर हार पोवे हाँ। एम बा मैल मैंने बैठे बैठी में मानो हम्म। मस्ती करे हाँ। अरे तो कई दिनों में लड़की की नजर पड़ी हाँ हाँ अभी घोड़े मात घोड़े मात माते सूर माते सूर नसवार वो खेले हाँ अरे क्यों क्यों भाभी भाभी के कई भाई हाँ देख के देखो आ गए नसलो हाँ वाह वाह क्यों भाभी अरे क्यों आवे रत्ना के हो यूं कहना है हाँ देख सोबर हाँ। शोभर होर ने जना क्यों के हो नहीं बीस बरो लो पच्चीस बरो ऐसा सोबर हो हाँ। दे खेले खेले जन के थारी मार क्यों बोले इन ऐटा पलो कौन बेचाए हाँ। मत पलो का के इन पनीर दे गुण के अब यूं करता करता कहीं की यूं बिना होने तो रमा तो ठोकी बाले जो बूटे बाबा मैं पढ़ा दिया अब दिल बद को बिने आहा क्योर भाई अब रात बासो को ट्रेन ले हम अरे तो गई बिने गांव दी की ओ शहर है आज बड़ो हाँ, शहर है शहर में आना आज शहर में राजा का आना हाँ, बे तो निक रखे हां तो अब आप गियो उठे अरे जान बूझियो के राम राम सा के राम राम राम करियान क्यों भाई क्यों गांव आप लोग अच्छा के भाई बात हां के भाई गांव तुम्हारा अलग है अरे क्यों ठीक केना बैठा के राजपूत रवि ठाम ठिकाना सब बताया हाँ। अरे नहीं हाँ। इतना वन ठाम क्यों जने क्यों ठीक सा साहब आप हाँ। बिरा दो अरे जने क्यों हमारे रात बार लेना है क्यों कोई बात नहीं ठीक है तो अब कह मैंने रात से ले रहे अरे एना टेट मुंडा के फोरे था तो क्यों रे भाई में क्यों हम्म। अरे भाई अपन आज मेहमान रूपी है अरे एक बकरो लेना होगी हाँ गोट करा गोट करा अरे जड़न बोल लड़को बोल अरे क्यों ठाकुर साहब ठाकुर साहब क्या कहे सर बोल के ए भूर पड़ियो गयो मरियो हां वो बाले लेनियो हां बार मार नहीं बाले ने रोपियो है हां हां वो मंगा लो अरे क्यों है के होर ओहो होर हां हाँ, तो अब चलो हो रे का था वाह वाह तो अड्डे थामा मुंडा के परे था परे था ना क्यों रे जाओ रे वो फलाने फलाने जाके होर पड़ियो के अरे बालो ठो गयो ले ना हां बालो के के हां अरे तो अब परे दौड़े दौड़े गया अरे गया तो आगे बैंक ಎಲ್ಲಾಡೋ ಹೊಡಿಯೋದು ಹಾ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೋಗ ಉತ್ತಾನ ಕೋಯಿ ಹೋ ನಿಗ್ಲೆ ಅರೆ तो ಬಾಲನ ಜಂಜಡೆ ಬಾಲೋಗ ನೀರೆ ಅರೆ ಆಳೆ ಬಾಳೆ ಭಾಯಿ ಹಾ ಬಾಪ್ जो तो अपन को याद नहीं रे हाँ आड़े बाड़े दौड़ दौड़ बात आवे आया बात अरे आया बात राजन क्यों कह रही अरे भाई आल आया मन हाँ के बाप जी क्यों आया वो कोई हो थोड़ी है कोई हो रे उठे कोई हिलार तो है उठे हाँ अरे जड़े के वारे वार डपा करी हाँ गियो खड़ा खड़ा वो हाँ वो भले नहीं आया था हाँ अरे राजा साहब आप रखो आप खुद घोड़ी माँ जीण कस ये रमन अरे रमन ये गियो आगे भले मात गाले तो भले तो आगो पाच ये अरे के थारी माँ जड़ो आ कहीं खड़ा अरे वाशा आया पाच क्यों कौन साहब क्या कहे हो हाँ हाँ कहे हो मजाक करोगे मारो क्या मारो मजाक कर रही कहते अरे बूढ़ा आदमी हो गए हाँ क्या वाश ठाक साहब गले बातें करो थे तो? हाँ मालूम हो हेलो मारा हाथ अरे वाश दो जन घोड़ी माथा डूरान दिया तो आप रखा है कि जब घोड़ा माथा वो बोले अंगूठ डाल पगड़ो अंगूठो खोल पगड़े खोल ठोकी भला हाँ वाले हाँ। ने अंगूठा मारा और इन ठोकी जो थे मैल मैंने लान ना घूर हमें हाँ। अरे क्यों बहुत हाँ। आ गया बहुत अब क्यों बार बार मैं हेल्प बलवान है क्या वाकई में राजा रा बीज है क्या अरे वर्षा गया और ने चिरा फाड़ा खर अच्छा। और अच्छे तरह आप गोट भी नहीं है अब एक गोट बिणेन सुबह दिन होगो क्यों राजा साहब मैं दा अरे के दाव हित अरे मैं जाऊँ ना बंधन हाँ हाँ अरे क्यों हुकम के माने एक बड़गर भाई है अरे आपने अपना आए दे जाओ ना आपने पन हाँ तो क्यों कोई बात नहीं ऐसा बना दो आप हाँ आपने जजगी ना पना हाँ तो आप आला लीला बांस कटा हाँ चौरिया मंडान भाई ने फेरा दे दिया है दे दिया है ठाक हो गए भाई हाँ, हाँ। भाई ने फेरा दे उरा हाँ। एन अब आप रखाई करियो राजा साहब क्यों भाई अब मैं जाऊं कौन क्यों मैं राजा साहब अब जाऊं अरे तो क्यों भाई यार सीख दो हाँ तो आपने अच्छी तरह सीख दिए भाई ने साथे में लिए अच्छा एन अब आप घरे गया तो आगे ज्ञान की ओर था हाँ। आता ही खो भाई भाई आगे जा बना बनो मैंने मान लिया है वाह अभी यूं बारह महीना छह महीना बीत ध्यान के का करियो मैं लड़के ने वो लड़को का ही करियो मैं लड़की के महल में नहीं जा अरे नहीं जावे तो क्यों थारी माँ तो लड़की मन में क्यों अपने काम नहीं पड़े कौन निश्चक बड़े बलवान तो भाई काम हाँ हाँ काम रहता है कितने सूरबीर हाँ। राल बत मक्के को राज बीज रो तो बीज है क्या अपन अपन काम रो आई तो बात मल में संग बंग नहीं है यो हाँ जना बा अभी करता करता क्यों अरे वाला लड़की हाँ। तो- हाँ, तो अच्छा, काम તો હવે એ ફરતા કરતા કઈ કર્યું હોય કે આપણે બલાડ કે કાગ મેલ્યું અરે આપણે માયતાને માયતાને કે જે સાથે મને કાંઈ બનાવ્યો અરે હું કવારી કવારી બાળક હા ગણ્યો બળવાને પણ મારે લાયક નો થાય હા ઘણી સૂરબીર હે ઘણી બળવાન હે ઘણી આય કુછ હે પણ મારે લાયક કે કામ નહીં મારે લાયક નો નહીં હે અરે તો હવે બહુ ઠાકર બાજો ભાઈ કર્યો કે કૌ સાહેબ હાર હાલ ઠાકર કાગદ મેલ્યો અરે के भाई भाई ने बहनो शाह ने भाई दिन माल में तो आप लड़के में ब्याह है हरियाणा अरे घर पदार जी एंड आप घर आओ जरूर है तो वो पांचों कागज आयो अरे कागज आयो लड़की पढ़न कौन साहब क्यों कौन साहब अरे क्यों हमारे पैरों कागज आयो कि अपन बुलाया जल्दी में जल्दी हाँ आप शास्त्र साधन पड़ी हाँ क्या जना क्यों चलो हलो अरे वाह साहब आपने घोड़ा में शस्त्र पाती ले रवाना रहेगा अरे जब जोत लियो है हाँ अब आपरे गया जाता जाता कई गिरियो के दिन बद गो अरे दिन बदियो जना कई गिरियो के और गांव और तो नेड़ो होगो नहीं हाँ मुन्नाड़ पड़ती हाँ तो कहे के एक बड़ा है शैतान अरे उन जाके एक बावड़ी आई है अरे एन भी बावड़े क्यों भाई अब रात ही पड़ गया ना अपन घोड़ा ना चार ही है अट बावड़े हाँ, हाँ। आहा अरे रे दोबड़ी पानी ठंडो आ ठंडी छिया रात होने अट बस भनुस अरे हाँ। के रात बस अपन रे ठीक है भाषा रात भाषो आपरे गोचा दूजा ला खाना बीजा बिना है अरे खाना जी हम्म। एन अब गए सोने टाइम आई उन टाइम में कियो के भाई अब पर दर्द में आया हां हां पोरो तो अपन लागण पड़ी एक जने तो मतलब नींद थोड़ कम लेनी पड़ी हां हां तो वा लड़की कियो के अरे बत तो दिन है मैं पोरो दे दे आदि तक तो। आदि तक मैं दे दे आदि तक ठंड दे दियो हां ठीक है वाकई वन बातें करबो रिया हां अलग लुगरी जात हिम्मत हाँ। हम ही करिया अरे अब यूँ करता करता आधी रात ढली बपोर दे बपोरो दे मैंने पोरो खत्म है यो जड़े मैंने जगा दियो क्या उठा आप पोरो आगो वर्षा उठ गो अब आप रात रात फिर हैं वो पोरो देवे यूं फिरता फिरता कहीं करियो के भी बावड़ी रे माते कहीं करियो के वे मतलब शहर आता सिंह सिंह आता पानी पीने अरे द सिंह पानी पीने आता तो कहीं करियो के पानी पीना आया उन टाइम पानी पीन बे मतलब नहीं लड़के रहा हम घो करी अरे लड़को क्यों थारी मार जानो थारी जय बार अपन याने मार दे हम हाँ तो अपन रानी आ रानी है जो बात डर जाएगी अरे क्यों कोई बात नहीं के घो करी दे मार दो हम्म। तो वो काय करियो हारे भालो हो अरे एक एक वाले ठोके जो दड़ी दौड़ के अल्लाह आपने काय करियो के याले रे तो बात ही अरे ಬಾಯ್ರ ಬಾತು ಉಂಟೆಂಬೆ ರಾಣಿರೆ ಆ ಆಂಗ್ಲ ಬೋಜೋಡ ಉಂಟೆಂಬೆ ಆರಾರ್ ಲೇದಾನ್ ಆಡಿ ಬೀನ್ ಸುಣಿದ್ಯಾನ್ ಸುಣಿದ್ಯಾ अब दिन उगो तो रानी जमुन लागो के रानी साहब के काय हुकम के ते मतलब नेनमु राजे बारे रजे बारे मुंडो काटो उन टाइम आए क्या फॉलो जन रजे मदी हां मतलब काय याले दो दिनो रे हो याले मौसम है मैं ऑटो करियो ऑटो किनो करियो सुन मारिया हो हाँ क्यों कोई बात नहीं कि मैं कौन डर अरे वाह उठ दे क्या कि ओ हो हो थारी माधव इतना बड़ा बड़वा शैतान न जानवर है हाँ यहाँ मारिया हो हाँ। बड़ी कमाल बात करी अब करा कई अपने अपने घणे बड़वान है घने ज्ञानी है पर अपने लाइफ रो है नहीं अब करा कई हाँ, हाँ। कि थारी माधव जलम वाह साहब ही करता करता आप हाँ अब आगे गया अरे दिन उगो खाना बीजो करियो है एन आगे रवाना या आगे गया तो भाई करियो दो पाड़ लड़े बाबा मार्ग रे बीच हां वे भाकर भाकर लड़े मत आपत में हां हां टिप्पा खावे आपत में मतलब मतलब पानी जोल खावे शब्द में हां जियो वे भाकर टिप्पा खावे हां जियो वे जोल चढ़ियो अच्छा जाओ ने रास्ता नहीं गया तो रानी मन में विचार करियो क्यों सुनो कौन सा के काई के ठीक है बा घाटी तो अपन टाल ली की और शेराली शेराली आगे कटाड़ा ओ गाड़ी ओ कैन ला अरे बाबा रानी मन में उबी उबी आप मन में विचार कर वाह वाह वाह वाह तो मन में गो क्यों है हाँ अरे क्यों भागरे शैतान लड़िया है मैं करा अरे तो उन टाइम में काई करियो भागर थोड़ा की हूँ छोट कर दीवी हाँ उन टाइम वो आप दोई हाथा ने खुण्या दे और हां वाह वाह वो भी होके भाग रहे जटे ठमता है ए आ मार करी लड़ता बंद हैगा हां क्यों रानी साहब देखो भाई रुजत काटो हां मैं अब हाँ कितना बड़ी कमाली बात हाँ, एडो है भाषा बे एडो है बाकर लड़ता तो ठोक दिए हाँ। तो बे बागरानी ना आप पार लंगूरो हाँ। आगे गया हम्म। लड़के मन में कह सारी माँ करा खाई अब जाते खत्म है यो तो अब करनो भाई पण अपना राइट तो है नहीं करा तो अभी जाता जाता कहीं करियो के आगे चार चोर बैठे ठहरा वे भूगो अरे आगे चार चोर बैठा हाँ। चार चोर बैठा उन टाइम में कई दियो के एक तो के लुगई मारी अरे एक एक घोड़ो मारो हाँ। बे आप तो मैं बेचारो ही लड़े वो हाँ, के घोड़ो मारो बा के लुगई मारे वो के मारो नहीं करता करता बेचारो ही लड़े आप तो में लड़े आप तो में लड़े तो कई दियो के <coughs> उठे ज्ञान के क्यों ठमो अरे बता प्रताप ठंडो घोड़ो क्यों बोलो भाई हम्म। क्या खटू लाया तुम घोड़ो हम्म। क्या आवाज भी घोड़ो तुम्हें मारो अरे क्या छोड़ लगा अरे आगे चारा ने आगे वो करे थे हाँ बस छोड़ दियो घोड़ो अरे कि लोग लोग आना हो हम्म। जाए लोग ने आप एक ले लिए अरे तो बिना बिना की अब यूं तो लहरा है एक तो क्यों इसको मार दो एक ही इन्हें मारो मत क्योंकि वही मान के देना बड़ हो तो नार जाए हाँ। इन्हें क्यों मार यूं करो इन्हें बांध दो हाँ। तो आप रकाई गिरो बंधन हो हरे हां ठोदी अबे भी बंधन गुरान बिन बांध अरे बांध रो हां अब घोड़ोन भी रानी ने ले वाह रमाने अरे काशी दो दियो पतिते फाउंड गया उन टाइम काई गिरो वो लड़को हेलो पाड़े हां क्यों रे सुनो रे भाई वाह के अरे ठहर ठहर के बोला रे हेला पाड़े काई हाँ, वो काई के आपने हां हाँ। तो आप रे ज्ञान के वो अरे हेलो पाड़े हाँ। क्यों कौन सा हेला पाड़े क्यों रे भाई सुनो सरी हाँ, क्या के के हाँ। इतना दिन मारखने रही है तो अबे पांच मिनट बाद ही मारखने इन मेल हो गई हाँ, कोई बात करनी है हाँ कोई बात गई ना जब थमा दे के रे अब डब्बा हाँ टाइम अपन का बिल है हाँ मेल अब बिन लड़की रे काई करियो के नवसर बाण हो तो बिन मदन बिन मींडन मैंने पोयो मींडन पोयोड़ो मींडन पोयो अरे अब वो बाण नहीं रियो नहीं अरे तो भाई तो वा कियो खाई को के अपटी किनो बाण त दे हां वो बाण तो बन दे दे शर्त तो हां के वे थारा ने हजटी राग दे हां वो बाण दे दे हां बे हाथ जाबरी अरे तो वा आप मींडा बाण बाण काट सुन दियो हां दे और बैठ गया पता है फाउंड गया उन टाइम वो बाण वा हाजन लागो बाण हाथ जो पर व्यान माते जो चारा ने हजटी गुड़ा दे हां चारा ने गुड़ा रानी ने लबाड़ियो हां मुंड उठे नहीं हां अरे हाँ तो भी रानी ने हेलो पाड़ी हो हाँ हेलो बाड़ियो के आवाज आ गए अगर हाँ। तो खोल दो बात नहीं अबार कोई आ गया मारता नहीं हाँ फटाफट बार रानी आओ री बंधन आने ना तोड़ तुड़ा ने खोलो ना घोड़े माथे बढ़िया जीण कस हाँ और वे रवाने हैगा ओ या पास रवाने हैगा आप रे जाता जावता काई करियो है के अरे अब आप रे छात्र ने सार पहुंच गए अरे सार से पहुंचा उन टाइम में कहीं करियो क्यों के हाँ अब यूं तो मरावेला नहीं हाँ और मान लो धारेला कोई साढ़े आदमी नहीं यूं तो धारेला कोई बलवान गणो हाँ मतलब लड़की पहली जान के दियो कि भाई यूं तो अपन धारेला नहीं होता हाँ। तो राज भी जो बीज है हाँ, मान लो सौ पिले तो कौन धारेला अरे तो कई करियो के वो आप रहो सोसरो जिरे थलाम करेला हां गांडी दियो थलाम करेला बी टाइम ठोकरी तलवार थलाम करेला उन टाइम होटा पटगना रू अरे जरा ओ नि मरेला कोई नेत्र कोई आज मरेला न कोई का तो अबे वो काई करियो के मेला में जाओ बिना काई ने के आवा मा चोट करेला अरे आप जान थलाम करियो हां ढिलाडे हो हां उन टाइम होटा पण लागे बिने दे जटी राज दी हां ठोके तलवार दो ढोर के दे रे तलवार तलवार कोन ठोके होटा में ठोके अरे अब ठोकियो ठोकियो बिना काई करियो मतलब हाँ बुरी हालत कर दी हाँ बुरी बुरी हालत करी उन टाइम क्यों बहुत मरगोगे अरे हमें छोड़ दोगे हाँ गाँव और बाहर बाहर ठेड़ना है क्यों अरे वहाँ साहब वकाई के दो तीन जना पकड़ू रहा हाँ ये गाँव और बाल बाड़ खड़ पड़ बिन मैं नाग दी टेक दियो इन ठेले हाँ हाँ अरे तो अब वकाई के के बिना नाग दियो है अरे अब वो कई गिरियो खाली मान ने होड़ो होड़ो इन पड़तो गुड़तो पड़तो गुड़तो पाँच ठीक है ठीक है हाँ तो वो गुडाले गुडाले कई गिरियो कि खाड़ी में बाहर नहीं नहीं रियो तो कई करियो एक भाग पड़तो हारे में हाँ कि माँ तो तीर से ही मरा अब अपन पानी पावे गुण है हाँ એને દોષ में अपना हाथ आंगड़ा तोड़ दिया अब करना हाँ पड़ेगा। ए, बुरी हालत कर दी साहब इन्हें। अरे हाँ ये। हाँ तो अब कई करियो कि वो बाग में गियो अरे घुरतो घुरतो हम्म, जा बाग में उठे बैठो रहियो अरे फुम बे, मतलब फूल उला बंद पड़ा ने बे मान लो हाँ। बन पड़े मान लो कि मान लो ये बाग में गियो साहब हाँ वो अरे, जान एका तो खयो अरे ಜಡ ನಮ್ಮ ಮಾಲಣಕಾಯಿ ಗಿರಿಯೋಕೆ ಏಬ್ಲಿ ಅನ್ನ ಕ್ಯೋರೆ ಹಿಡಿರೋ ಹಿಡ್ನಾರ್ ಮಾರ ಬಾಗ್ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಸಿತನಾರ್ ಮೇಡ್ದೇವು ಅರೆ